आप ये सोचें कि हम शांत आत्मा मन के साथ जुड़कर चंचल होते हैं वास्तव में मेरा परमात्मा आत्मा शांत स्वभाव सुख रूप मन की सत्ता असली नहीं है असली सत्ता ओम स्वरूप आत्मा की मन की सत्ता प्रतिभाषिक है देखने भर को है तरंग की सत्ता देखने भर को है पानी की सत्ता सच्ची है मन की सत्ता कल्पना मात्र है परमात्मा सत्ता वास्तविक है हम उसी परमात्मा सत्ता में एकाकार हो रहे हैं जो परमात्मा आत्म रूप में है चेतन रूप में है ज्ञान स्वरूप है हमारे परम हितेशी है हमारे आत्मदेव है और सभी के अंतकरण में अनुस्युत है जैसे सभी घरों में आकाश सभी तरंगों में पानी ऐसे सभी आकृतियों में जो निराकार नारायण है वह शांतात्मा शुद्ध चैतन्यात्मा ज्ञान स्वरूप ईश्वर की हम शरण जा रहे हैं शरण का मतलब है उसमें हम शांत हो रहे हैं उनकी हां में हां कर रहे तेरा भाणा मीठा लागे जो तिद भावे सो भली कार फरियाद नहीं धन्यवाद वासना नहीं उपासना व्यक्तित्व श्रृंगार नहीं व्यक्तित्व विसर्जन संसार की ख्वाहिश नहीं ख्वाहिशों की आहुति और निर्वासना निरालंबा शोभते शुष्क पर्णवत वासना नहीं और सुख का कोई बाह्य अवलंबन नहीं अपने सुख स्वभाव में शांत स्वभाव में चैतन्य स्वभाव में आत्म स्वभाव में परमेश्वर स्वभाव में मन की चंचलता शांत हो रही और फिर चंचलता होगी तभी भी मेरा परमात्मा तो जो कहती हूं जानने साक्षी एक ओंकार सत्य नाम वही ओंकार स्वरूप आत्मा ही सत्य कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल अमूर्त अजुनि सैवम गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से गुरु के उपदेश से विश्रांति मिलती गुरु प्रसाद जप आद जो आदि में ओमकार स्वरूप उसी को जप सतयुगाद जो युगों से सत है भी अभी भी सत है उसे भी सत हम उसी सत स्वभाव में ईश्वर में पावन हुए ओम ओम श्री परमात्मने नम ओम ओम ज्ञान स्वरूपाय नमः ओम ओम आत्मरूपाय नमः ओम ओम प्रेम स्वरूपाय नमः ओम ओम प्रभु जी ओम ओम ओम प्यारे जी ओम ओम ओम मेरे जी ओम ओम ओम हरि ही ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेव वो ओम स्वरूप भगवत स्वरूप और बस रहे वासुदेव रूप गुरु के सन्मुख जाए के सहे कसोटी दुख कहे कबीर व दुख पर कोटि वारू सुख मरने वाले सुख करोड़ों कुर्बान करूं इन दुखों का स्वागत करता हूं मान अपमान का स्वागत करता हूं जो मुझे अमानी अदम भी मान मिलेगा तो मरने वाले शरीर को टिप टाप रहेगा तो मरने वाले शरीर रुपए पैसे होंगे तो मरने वाले शरीर का अधिकार हमको क्या मिला धन मान यश उसमें से हमको क्या मिला जो हम नहीं है उसको मिला और छूट गया हमारा तो समय खराब होगा ईश्वर के सिवाय हमको क्या मिला मान मिला तो धोखा है जो हम नहीं है उसी को मान मिला है जो नहीं रहेगा उसी को मान मिला है जो हम है उसको तो वो जानता नहीं और हाँ, जो हम नहीं है उसी को मान मिला उसी का अपमान हुआ तो हम दुखी हो रहे उसी को मान मिला तो हम अहंकारी हो रहे धोखे में मारे जा रहे निरा धोखा है ये मान अपमान सुख दुख नीरा धोखा है निर्द्वंदो मान अपमान द्वंद है सुख दुख द्वंद है ये आके चले जाते फिर भी जो नहीं जाता वो कौन है निर्द्वंद वही आत्मदेव इतने नजीक इतने साथ में इतने पास वहम घुस गया ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे तब तो कहीं मिलेगा यीशु को पूजेंगे उसकी कृपा होगी तब स्वर्ग मिलेगा अरे स्वर्ग अभी है ऐसा मजहब करेंगे ये करेंगे तब किसी की कयामत में खुशामत होगी तब बिष्ट मिलेगा अभी बिष्ट स्वरूप आत्मदेव है स्वर गुरु सो साहेब सद सदा हजूरे अंधा जानत ताको दूरे गुरु का ज्ञान नहीं हृदय अंधकार से भरा है तो दूर और जगह मान बैठा स्वर्ग तुम्हारे सुख स्वभाव के बिना स्वर्ग कहाँ है स्वर्ग भी लज्जित हो जाए ऐसा आत्मदेव का सुख ज्ञान चेतना ये स्वर्ग है कि नहीं उसको देखने वाला परम स्वर्ग रूप तुम्हारा आत्मदेव जिसको कभी न छोड़ सके वही परमात्मा है इतना आसान जिसको कभी ना छोड़ सके वही आत्मा परमात्मा है वो ज्ञान स्वरूप है कभी ये सोचा कि मैं हूं कि नहीं फलाना है कि नहीं भगवान है कि नहीं ये सोच सकते लेकिन मैं हूं कि नहीं बस वही है जैसे तिलों में तेल चकमक में आग तेरा रब तेरा प्रीतम तेरा ज्ञान स्वरूप तुझ में जाग सके तो जाग उसको पाने की तड़प प्रीति जब करके उसी में चुप रहो शांत रहो गुरु मूर्ति को देखते देखते आंख की पुतली ना हिले पांच छह मिनट रोज बैठो बहुत दोष निवृत्त हो जाए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति बोलते तो हैं आश्रम में करता है वो सुरेश बन जाता है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम